शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् वादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो दुरास्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ईश्वर सिद्धि के लिए मूल अनुमान क्या दिए थे आप यहाँ आ सकते हैं आगे वहाँ जो आगे सब कुर्सी है वहाँ पर बैठे क्या दिए थे ये मूल अनुमान दिया गया था तो अभी उसमें पक्षता अवच्छेदक क्षितित्व अंकुरत्व और आदि भी कहा गया तो आदि पद से घट इत्यादि लेकर के ठीक है चले तो खंड घट अंतिम में खंड घट को पक्ष बना करके उसका कर्ता कुलाल नहीं है तो इसलिए ईश्वर सिद्ध होगा उसे कहा गया अच्छा साध्य अच्छा हाँ कल स्वामी जी का एक प्रश्न था कि हम लोग कल विचार किए कृति और कार्य ये दोनों में सामानाधिकरण्य कृति को विशेषता संबंध से कपाल में रख दिए कृति विशेष कपाल कपाल को लेकर के कृति प्रयत्न करेगा और उसमें कार्य घट किस समझ से रह जाएगा समवाय समझ से तो कृति और कार्य के बीच में ये सामानाधिकरण हम सिद्ध करके कहते हैं कार्य कारण भाव जन्य जनक भाव हो जाएगा किंतु हमारा अनुमान में हेतु कौन है कार्य और वहाँ साध्य कौन है कर्तृजन्य तो हम यहाँ जन्य जनक भाव दिखा रहे हैं का, कार्य और कृति सामानाधिकरण करके और अनुमान में हमारा है कार्यत्व तो और कर्तृजन्यत्व तो ये सामानाधिकरण से हम उस व्यक्ति को कैसे ग्रहण कर लेंगे क्योंकि हमारा होना चाहिए कि यत्र कार्यत्व तत्र कृतिजन्यत्व ये होना चाहिए कहते देखिए जब हम कृति और कार्य में समानाधिकरण्य करते हैं हम कहते हैं कि यत्र कार्यम तत्र कृति इस प्रकार कह देते हैं तो कहाँ रखते हैं ला करके कपाल में रखते हैं नहीं तो कृति रहेगा आत्मा में और कार्य रह जाएगा कपाल में तो हम विशेषता संबंध से रह करके कर देते हैं ये दृष्टान्ति को समझने के लिए हम दृष्टांत बनी और धूमो को समझेंगे तो हम कहते हैं कि यत्र धूमस तत्र बनी ऐसा कहते हैं हम अगर अनुमान वाक्य में लगाएंगे कि धूम जन्य धूमत्वात् जैसे हम यहाँ कहते हैं कि जन्यम कर्तृजन्यम कृतिजन्यम कार्योत्वात ऐसे कह देते हैं तो ऐसे वहां भी कह देंगे धूम बन्हीजन्य क्यों धूमत्वात् तभी तो हमारा हेतु हो गया धूमत्व और धूमत्व कहाँ रहेगा धूम में रहेगा और हमारा साध्य क्या है बन्ही जन्यत्व ये धूम में बन्ही जन्यत्व रहेगा रहेगा अगर धूम और बन्ही में जन्य जनक भाव आएगा तब धूमत्व और बन्ही जन्यत्व ये दोनों समान अधिकरण होंगे ही होंगे तो जैसे यहाँ भी हम कृति और कार्य में जन्य जनक भाव कहने से कार्यत्व और कृति जन्यत्व ये दोनों भी समान अधिकरण होंगे क्योंकि जो कार्य है कृतिजन्य है कार्य तो कार्य में रहेगा वहां कृतिजन्य तो भी रह जाएगा तो जैसे हम एक कह दिए कि जहां धूमत्व तो रहेगा वहां बंधित जन्य तो रहेगा इसी प्रकार की जहां बंधित्व तो रहेगा वहां क्या रहेगा देखिए आप जो कहते हैं पहले सोच करके कहना बहुत गलत कहते देते हैं तो जहां बंधित्व तो रहेगा प्रथम प्रश्न प्रथम क्या बोला जहाँ धूमत्व रहेगा वहाँ बंधित जन्यत्व रहेगा इसी प्रकार की जहाँ बंधित्व रहेगा वहाँ क्या रह जाएगा क्या जहाँ बंधित्व रहेगा धूम जनकत्व रहेगा जहाँ बंधित्व रहेगा वहाँ धूम जनकत्व रहेगा तो जहाँ बंधित्व तो रहेगा वहाँ धूम जनक तो रहेगा बस उतना ही कह देंगे तो ये क्यों रह गया अभी कहते कि बन्ही और धूम में जन्य जनक भाव है इसलिए जहाँ धूम तो रहेगा वहाँ बनी जन्य तो रह जाएगा जहाँ बनी तो रहेगा वहाँ धूम जनक तो रहेगा ये उसका सामर्थ्य से ये होगा ये तो स्वाभाविक चीज है इसलिए कृति और कार्यों में जन्य जनक भाव दिखा करके कार्य तो और कृतिजन्य तो ये दोनों में भी अधिकरण ने ये स्वाभाविक रूप से सिद्ध होगा ये स्पष्ट होगा ना प्रश्न क्योंकि हम लोग विचार कर लिए कृति और कार्य में जन्य जनक भाव दिखा दिए कपाल में रख करके और हेतु लगाए हैं कार्य तो और साध्य कर रहे हैं कृति जन्य तो वो दोनों में स्वाभाविक सामानाधिकरण होगा क्योंकि जन्य जनक भाव होगा तो उसमें रहने वाला धर्म ये सामानाधिकरण हो जाएंगे ठीक है आगे किसको कृतित्व को कृतित्व ना ना कार्य तो हेतु है कृति जन्य तो सिद्ध कर कहा कृतित्व कार्य तो कृतित्व कार्य तो अर्थात कृतित्व कार्यत्व कार्यकरण भाव कर रहे हैं कृतित्व कार्यत्व में कार्यकरण भाव नहीं है कृतित्व कार्यत्व अर्थात सकल कृति सकल कार्य ये दोनों का बीच में जैसे कहते हैं धूमत्व बंधित्व कार्यकरण भाव यहाँ धूमत्व बंधित्व में कार्यकरण भाग नहीं है धूमत्व धूमत्व धूमत्व कहने से धूमत्वावच्छिन्न सकल धूम बंधित्वावच्छिन्न सकल बनी तात्पर्य वहां का तो वहाँ कृतित्व कार्यत्व तो में नहीं दे दिया कृतित्व न कार्यत्व न कार्य भाव है कार्यत्व और कृतिजन्यत्व ये समानाधिकरण हो जाएंगे कार्यत्व और कृतिजन्यत्व में कार्यकरण भाव नहीं समान अधिकरण है नहीं नहीं कहा पंक्ति इस प्रकार की है कृतित्व न है कृतित्व से कार्यत्व से कार्यक्रम भाव ऐसा नहीं है इसका अर्थ हो गया कृति और कार्य में कार्यक्रम भाव है कार्यत्व और कृतिजन्यत्व में समान अधिकरण आ जाएगा समान अधिकरण आ जाने से हमारा व्यक्ति हो गया जहाँ कृतित्व तो रहेगा जहाँ कार्यत्व तो रहेगा वहाँ कृति जन्य तो रह जाएगा सामान्य अधिकरण है वहाँ वहाँ कार्य कारण भाव नहीं है एक ही जगह में रहते हैं दोनों कार्य कारण भाव हो गया कृति और कार्य में धूमो बन्ही में कार्य कारण भाव है धूमत्व और बन्ही जन्यत्व ये दोनों में कार्य कारण भाव नहीं है क्योंकि धूमत्व कोई कार्य है क्या इसलिए धूमत्व बन्ही जन्यत्व में कार्यकरण भाव नहीं रहेगा सामान अधिकरण में हो जाएगा एक ही जगह पर रहेंगे तो समान अधिकरण हो जाने से व्याप्ति हो गया अच्छा आगे सो उपादान सो उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति जन्य तुम इतना साध्य ऐसा नहीं होगा क्यों कहते केवल कृति ही जनकता मतलब कृति ही जनक बन जाएगा अब तीनों को कहने का कोई व्यर्थ है तो इसलिए अगर कृति को ही हम कारण मान लेंगे चिकित्सा और ज्ञान ये दोनों क्या हो जाएंगे अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे तो इसलिए उनको जो अन्यथा सिद्ध होता है उनको कारण कोटि में नहीं दिया जाएगा ऐसा पूर्व पक्ष कहा दिया अच्छा अभी रामरुद्री में देखिए साध्यम च प्रतीक दिया है वहां से उसके आगे नित्य ज्ञान इच्छा कृतिमान एवं ईश्वर सकर्तृकत्व अनुमान न साधनीय सकर्तृक सकर्तृक अर्थात हम जो अनुमान देते हैं क्षित अंकुराधिकम सकर्तृकम कार्य इसके द्वारा हम जो ईश्वर को सिद्ध करेंगे वो ईश्वर नित्य ज्ञान इच्छा कृतिमान होना है इतना भी सिद्ध किया जाएगा ईश्वर इस प्रकार के सिद्ध किया जाएगा अन्यथा ईश्वर नित्य ज्ञान इच्छा और असिद्धि प्रसंगा जो हम ईश्वर सिद्ध करने जा रहे हैं उसमें नित्य ज्ञान इच्छा ये सिद्धि भी करेंगे अतः सकर्तिक अनुमान सकर्तिकत्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिजन्यत्व रूपम एवं साधनियम सकर्तिकत्व हमारा साध्य है उसका अर्थ हो जाएगा उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिजन्यत्व ये सिद्ध करना पड़ेगा जो दिनकरी में दिया है जिसके ऊपर विचार चल रहा है तथा च एतद अनुमान नित्य ज्ञान इच्छा कृति नाम सिद्धो नित्य ज्ञान इच्छा कृति ये सिद्ध होगा अभी तत्पक्ष अर्थात नित्य ज्ञान इच्छा कृति इनको पक्ष बना करके गुणत्व हेतु क अनुमान है ना गुणत्व को हेतु बनाएंगे और नित्य ज्ञान इच्छा कृति को पक्ष बनाएंगे इस प्रकार की अनुमान से हम ईश्वर की सिद्धि करेंगे अनुमान आप लोगों का टिप्पणी दिया है तत्पक्ष का गुणत्व हेतु तत् के ऊपर अनुमान दिया है टिप्पणी में नहीं दिया है उस पुस्तक में नहीं है इसमें दे दिया है उपादान देखिए ऊपर में दे दिया कि नित्य ज्ञान इच्छा कृति उनको पक्ष बनाएंगे यहाँ दे दिया टिप्पणी उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति द्रव्याश्रिता ये द्रव्य में आश्रित होंगे साध्य हो जाएगा द्रव्याश्रितत्व पक्ष हो गया नित्य ज्ञान इच्छा कृति नित्य ज्ञान इच्छा कृत द्रव्याश्रिता क्यों गुणत्व जो गुण होगा वो द्रव्य आश्रित होगा अभी हम पक्ष बना रहे हैं नित्य ज्ञान इच्छा कृति को यह गुण है इसलिए द्रव्य आश्रित होंगे ऐसा एक अनुमान देंगे और ये द्रव्य कौन होगा कहें देखे ज्ञान इच्छा कृति ये जड़ में रहेगा ना चेतन में रहेगा चेतन में रहेगा और चेतन या तो जीवात्मा नहीं तो परमात्मा ये जीवात्मा का जो ज्ञान इच्छा कृति ये नित्य है अनित्य है तो इसलिए जीव में नहीं हो पाएगा पारिशेष्य न्याय से ये ईश्वर में ही सिद्ध होगा किंतु तो ईश्वर एक होगा नाना भी हो सकते हैं नित्य ज्ञान इच्छा कृति मानव नाना हो सकते हैं इसलिए आगे कहते हैं रामरुद्र में तत्पक्ष का गुणत्व हेतु का अनुमान न लाघवात एक द्रव्याश्रितत्व सिद्ध एक ईश्वर मानने से हो जाएगा तो नाना ईश्वर मानने का कोई आवश्यक नहीं है लाघवात एक ईश्वर मानेंगे तदेव द्रव्यम ईश्वर इति नित्य ज्ञान इच्छा कृति मान एक ईश्वर सिद्ध्यति प्राचाम अभिप्राय ये अनुमान से पहले नित्य ज्ञान इच्छा कृति को सिद्ध करेंगे ये नित्य ज्ञान इच्छा कृतिमान जो होगा वो जीव नहीं होगा तो ईश्वर होगा और लाभ होगा तो ईश्वर एक होगा ऐसे ही अनुमान से सिद्ध करेंगे ठीक है अभी विचार हो गया कि आप केवल कृति को कारण मान लीजिए ज्ञान और इच्छा को कारण कोटि में लेना आवश्यक नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष कह दिया सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा ज्ञान इच्छा इसको कारण कोटि में मानेंगे और कृति को व्यापार कोटि में मानेंगे क्योंकि ज्ञान इच्छा नहीं है तो कृति हो जाएगी क्या नहीं होगा तो ज्ञान इच्छा होने से ही आगे कृति और कृति होने से आगे आपका कार्य होगा तो ज्ञान इच्छा ही कारण है कृति व्यापार हो जाएगा और व्यापार के द्वारा व्यापारी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा नहीं होगा अभी यहाँ सिद्धांत किसको व्यापार बनाने के कह रहा है कृति को और कारण किसको लेंगे ज्ञान और इच्छा को पूर्व पक्ष क्या कहा था कृति को कारण मानेंगे और ज्ञान इच्छा अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे तो सिद्धांत ये कहा वो अन्यथा सिद्ध नहीं वही कारण होगा कृति व्यापार हो जाएगा इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि हम कृति को ही मान लेंगे वो दोनों अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे ऐसा नहीं कह पाएंगे इसको देखिए रामरुद्र में दिया है तत्र बाधा तो प्रतीक दिया है उसके आगे पंक्ति ननु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ज्ञान और हेतुता सिद्ध अन्वय व्यतिरेक से ज्ञान और चिकित्सा ये दोनों हेतु हो जाएंगे अर्थात ज्ञान सती कार्य सत्व ज्ञान अभाव है अभाव इसी प्रकार की चिकित्सा में भी हो जाएगा होने से व्यापारत्व कृत है कार्य मात्र प्रति कारणत्व कृति भी कार्य के प्रति कारण होगा किंतु व्यापारत्व न होने से व्यापारेण व्यापारिणो न अन्यथा सिद्धि रीति न्याय विरोध है न व्यापार के द्वारा व्यापारी अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाएगा इसलिए तयोर न अन्यथा सिद्धि तयो हो कहने से ज्ञान इच्छयो हो चिकित्सयो हो ये अन्यथा सिद्ध नहीं होगा तो ठीक है पूर्व पक्ष जो दोष दिया था सिद्धांत उसका निराकरण कर दिया अभी पूर्व पक्ष कहता है कि दोषांतर दिखाता है दिनकरी में दृष्टांत पक्ष साधारण से स्वत्व एक अभाव है न अभी आपका साथी हो गया स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति जन्यत्व ये स्व आपका दृष्टांत अनुमान में दृष्टांत आप किसको दे रहे हैं घट को और जब पक्ष जाते हैं तभी स्व उपादान गोचर स्व पद से जब दृष्टांत में जाएंगे स्व पद से किसको लेंगे घट को लेना पड़ेगा और जब पक्ष में जाएंगे क्षिति अंकुर को लेंगे तो स्व पद एक ही अर्थ हुआ स्व पद का अर्थ जब दृष्टांत में जाएंगे क्या हो गया घट आज पक्ष में जाएंगे तो स्व पद का नाना अर्थ हो गया तभी पूर्व पक्ष कहता है कि दृष्टांत पक्ष साधारण स्वत्व स्वत्व एक अभाव है तो स्व पद का अर्थ एक ही नहीं हुआ नहीं होने से तद घटित स्व उपादान गोचर इत्यादि साध्य से असंभवा तो एक साध्य नहीं होगा इसका तात्पर्य है कि एक साध्य नहीं होगा का अर्थ टीका में देखिए असंभवात दृष्टांत पक्ष वृत्ति साध्य द्वय गत अनुगत साध्यता अवच्छेद का अभाव साध्य एक में हो गया घट एक में क्षिति अंकुर तभी तो साध्यता अवच्छेद को दोनों में समान नहीं आएगा अगर अवच्छेद को समान नहीं आएगा आप पदार्थ को एक कैसे कह देंगे दो अलग अलग अवच्छेद को हो गया तो इसलिए पदार्थ भी भिन्न हो जाएगा तात्पर्य यहाँ है मूल में जो कह दिया कि दृष्टांत पक्ष साधारण से स्वत्व से एक अभाव इसका अर्थ है कि साध्यता अवच्छेद को समान नहीं हुआ ये दोष आएगा ये पूर्व पक्ष दूसरा दोष दिखाया अगर दृष्टांत में जाएंगे साध्य साध्यता अवच्छेद को हो जाएगा आपका घटत तो। क्योंकि आप सौ पद से वहां घट ले रहे हैं और जब पक्ष में जाएंगे वहां हो जाएगा क्षितित्व अथवा अंकुरत्व इस प्रकार की कुछ हो जाएगा तो आपका ये अवच्छेद को समान नहीं हुआ स्वपद से अलग अलग ले रहे हैं तो स्वपद से अलग अलग तो आपका अवच्छेद को अलग अलग हो जाएगा क्या चीज आपका साध्य है ना स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्य जन तो साध्य को दृष्टांत में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे स्वपद से घट लेंगे घट लेंगे तो आपका अवच्छेद कोटि में ये घटत्व तो आ जाएगा तो और जो पक्ष में जाएंगे वहां क्षितित्व इत्यादि हो जाएगा अर्थात घटत्व निरूपित कृतिजन्यत्व आपका साध्य है कृतिजन्यत्व किंतु वहां हो जाएगा घटत्व निरूपित कृतिजन्यत्व इसी प्रकार के पक्ष में हो जाएगा क्षितित्व अथवा अंकुरत्व निरूपित कृतिजन्यत्व इस प्रकार क्या आएगा तो ये दोनों विरूप हो गया समान रूप नहीं हुआ ये दोष पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं उसके लिए सिद्धांत समाधान देगा देखिए रामरुद्री में असंभव के आगे पंक्ति ननु दिया है ननु तरी स्व इति परित्याज्य ठीक है स्व पद हटा दीजिए अब जो स्व को लेकर के विवाद हो रहा है उसको हटा दीजिए यदि च अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कृतेरव प्रथमतः कार्य मात्र हेतुत्व अवधार्यते तनकत्व ज्ञान चिकित्सा अनुमान आग्रह तदा, तदा अस्तु तयोर अपि अन्यथा सिद्धत्व स्वपद त्याग कर देंगे यदि च अन्वय व्यतिरेकाभ्याम रेव प्रथमतः कार्य मात्र अच्छा पूर्व पक्ष कहा था कि कृति को ही कारण कोटि में ले लेंगे बाकी दोनों अन्यथा सिद्ध हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि ऐसा अगर आपका आग्रह है चलो वो भी ठीक है मान लेंगे यदि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कृतेरव प्रथमतः कार्य मात्र हेतुत्व अवधार्यते अन्वय व्यतिरेक करने से कृति चिकित्सा ज्ञान ये तीनों ही कार्य के साथ अन्वय व्यतिरेक हो रहे हैं किंतु सबसे प्रथम अंतिम अर्थात सबसे प्रथम अर्थात सबसे अंतिम कार्य के प्रति सबसे नजदीक हो जाएगा कृति तो पूर्व पक्ष कहता है कि कृति को ही कारण मान लेंगे बाकी दोनों अन्यथा सिद्ध होंगे तो सिद्धांत कह रहे हैं कि कार्य मात्र हेतुत्व यदि अवधार्यते तद जनकत्व अर्थात कृति का जनकत्व ज्ञान चिकित्सयोर अनुमानम इति कृति का जनकत्व ज्ञान और चिकित्सा का अनुमान हो जाएगा इति आग्रह तदा अस्तु तयोर ज्ञान चिकित्सयोर अन्यथा सिद्धत्व जो पूर्व पक्ष कहा था सिद्धांत कहता है कि चलो वो भी ठीक है ये भी अन्यथा सिद्ध हो जाएगा तथापि अभी हमारा साध्य से स्वपद हट गया और ज्ञान चिकित्सा ये दोनों हट गया अभी कितना बच जाएगा उपादान गोचर कृति जन्य तुम इतना ही बच जाएगा तब तो सिद्धांत कहता है तथापि उपादान गोचर कृति सकर्तृत्व साध्यवात सकर्तृकत्व इसका अर्थ हो जाएगा उपादान गोचर कृति इतना हो जाएगा तथापि न अस्माकम का क्षति हमारा कोई हानि नहीं है तो भी साध्य को हम संकुचित तो करके उपादान गोचर कृति जन्य तुम इतना ही कर देंगे तो ठीक है ये चलेगा क्या चीज ये सिद्धांत कहा था अभी सिद्धांत कहता है चलो आपके बाद मान भी ले वो दोनों को अन्यथा सिद्ध करके कृति को ही कारण कोटि में मान ले तथापि तो हमारा कोई हानि नहीं होगी तो मान लीजिए कृति को कारण मान लीजिए तो हानि नहीं होगी इस प्रकार के सिद्धांत कहा ननुष्य सिद्धांत सिद्धांति हाँ क्योंकि ये सब दोष पूर्व पक्ष दिखा रहे हैं सिद्धांति वो दोष का निराकरण कर रहे हैं स्व को लेकर के विवाद हो गया सिद्धांति का स्व को छोड़ दीजिए और पूर्व में जिसको निराकरण कर, कर दिया था अभी उसको खा उसको भी छोड़ दो कोई हानि नहीं है अभी पूर्व पक्ष तीसरा दोष दिखा रहा है कृतिक क्या चीज स्व को लेकर के विरोध हो गया ना तो अब आपको जो साध्यता अवच्छेद होगा वो पक्ष और दृष्टांत में समान होना चाहिए और नहीं तो दृष्टांत में आप कुछ साध्य को दिखा रहे हैं पक्ष में दूसरा साध्य को सिद्ध कर रहे हैं ये तो अनुमान नहीं होगा ना साध्यता अवच्छेद समान होना चाहिए ये दोष का तो नहीं जैसे आप महानसीय बन्ही को सिद्ध करके यहाँ पर्वतीय बन्ही को सिद्ध करना चाहेंगे अगर महानसीय ना आप व्याप्ति ग्रहण कर रहे हैं आप ये पर्वतीय बन्ही को सिद्ध कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप उसमें व्याप्ति ग्रहण नहीं हुआ है तो बंधित्व नहीं ग्रहण करना है साध्यता आवश्यकता का समान होना है तो वहां दोष तो यही हो जाएगा कि आपको व्याप्ति ज्ञान नहीं है क्योंकि तदघटित व्याप्ति ज्ञान अभी नहीं है ये दोष आएगा कैसे घट में हाँ क्षितित्व घट अभी क्या है ना हम क्षितित्व को लेकर के अगर आप साध्यता अच्छा आपका तात्पर्य है कि क्षितित्व को साध्यता आवश्यकता को बना देंगे दोनों में समान हो जाएगा उसमें सब दोष दिखाया था वो सब दोष फिर आ जाएगा तो ये अंश का सिद्ध साधन होगा ये सब दोष हो जाएगा अच्छा अभी पूर्व पक्ष और दोष दिखा दिया कि कृतित्व अपेक्षा उपादान गोचर कृतित्व से गौरवेण जनकता अनुवच्छेद अभी आप साध्य कहते हैं कि उपादान गोचर कृतिजन्यत्व ये आपका साध्य हो गया तो कृतित्व के अपेक्षा उपादान गोचर कृतित्व ये बड़ा हो गया ये गौरव हो गया उपादान गोचर कृतित्व और कृतित्व इसमें शरीर कृत गौरव किसमें हो गया उपादान गोचर कृतित्व तो न इसलिए जनकता का अवच्छेदक वो नहीं बनेगा तो अर्थात आपका साध्य वो नहीं बन पाएगा गौरव दोषग्रस्त हुआ है ना अभी इस प्रकार की हुआ होने से वे पूछता है कि ठीक है तो वास्तव साध्य अभी क्या होना चाहिए उसके लिए कहता है किंतु विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्व विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता कारण हो गया कृति कृति में रहेगी कारणता कारणता का दो अवच्छेद कर लेंगे एक धर्म दूसरा संबंध तो संबंध हो गया विशेष्यता अर्थात विशेष्यता संबंध से कृति जाकर के कपाल में रह जाएगा जो अवयव है उसमें रह जाएगा विशेष्यता संबंध अवच्छिन्न और कारण हो गया कृति इसलिए कृतित्व अवच्छिन्न विशेष्यता संबंध है ना अर्थात जो कृति करेगा ये कृति का उद्देश्य हो जाएगा घटक घट को उद्देश्य रख करके कृति करेगा किंतु कृति किस में करेगा अपना प्रयत्न कपाल को लेकर के प्रयत्न करेगा इसलिए कपाल यहाँ सामने में उसका विशेष्य उपलब्ध है पदार्थ उपलब्ध है विशेष्यता संबंध है ना ये कृति जाकर के कपाल में रहेगा क्यों किस में वो अपना कृति करेगा प्रयत्न किस विषय को करेगा तो कपाल विषय को कृति करेगा विशेष्यता संबंध और ये जो कृति कृति का विशेष हो जाएगा कपाल और कृति का आश्रय कौन होगा कुलाल कुलाल का आत्मा में वो कृति होगी किंतु उसका विशेष हो जाएगा वो कपाल उद्देश्य हो जाएगा वो घट घट का उद्देश्य करके उसकी कृति विशेष्यता संबंध अवच्छिन्न कृतित्व अवच्छिन्न कारणता ये कारणता अभी किसमें रहेगा कारण किसको ले रहे हैं कृति को हाँ, कृति होता है हमारा कारण तो कृति जाकर के कपाल में रहेगा कार्य कारण को समानाधिकरण करेंगे कृति हो गया कारण और घट हो जाएगा कार्य तो कृति और घट को समानाधिकरण करेंगे कृति को ला करके भी कपाल में रखेंगे और घट को ला करके भी कपाल में रखेंगे अभी कृति कपाल में किस संबंध से रख रहे हैं विशेषता संबंध और कृति का अवच्छेद का धर्म हो जाएगा अवच्छेद का धर्म कृतित्व तो इसलिए विशेषता संबंध अवच्छिन्न कृतित्व अवच्छिन्न कारणता ये कारणता किसमें रहेगी कारणता किसमें रहेगी कृति में रहेगा तो ये कृति को लाकर के हम कपाल में रख रहे हैं तो कारणता की तो रहेगा कृति में किंतु क्योंकि कृति हमारा कारण है और वहां घट को भी रखना पड़ेगा घट को कपाल में किस समय से रखेंगे समवाय संबंधावच्छिन्न इसलिए पंक्ति दे दिया विशेष्यता संबंधावच्छिन्न कृतित्वावच्छिन्न कारणता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्व कार्यता कह सकते हैं समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यत्व ये हो गया हमारा साध्य इस प्रकार के अच्छा अभी कारण को समवाय संबंध से कार्य को रख दिए कपाल में कारण कृति उसको भी लाकर कपाल में रख रहे हैं विशेषता संबंध से विशेषता संबंध है ना कृति कपाल में आश्रयता संबंध है ना कृति कुलाल में उद्देश्यता संबंध है ना कृति घट में इस प्रकार की हो जाएगी अच्छा अभी जो कारण हो गया कृति ये कपाल में आकर के किस संबंध से रहा विशेष्यता संबंध में तो अगर हम ये जो कृति को कारण मान करके ईश्वर को सिद्ध करना चाह रहे हैं अगर ये जीवीय कृति से ये घट बन जाएगा तब तो आप ईश्वर सिद्ध कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये जीवीय कृति से घट कैसे बन जाएगा कहेंगे अदृश्य के चलते कल आपका प्रश्न था ना अदृष्ट से अगर घट हमारा अदृष्ट से घट बन जाएगा ईश्वर कैसे सिद्ध होगा कहते अगर हमारा अदृष्ट भी जाकर के वो घट में रहेगा क्योंकि अदृष्ट सकल कार्य के प्रति कारण है अदृष्ट भी कारण हो जाएगा किंतु अदृष्ट विशेषता संबंध न जाकर के कपाल में नहीं रहेगा वो ईश्वर कृति ही उद्देश्यता विशेषता संबंध से रहेगा तो हमारा जो अदृष्ट जाकर के अगर कपाल में रहेगा उसके लिए दे दिया मूल पंक्ति देखिए तेना अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृति जन्यत्व पक्षीय सत्वेपी तो यहाँ पक्ष अर्थात हम तो क्षिति अंकुर में ईश्वर को सिद्ध करना चाहते हैं घट में तो कुल हो जाएगा तो क्षिति अंकुर में हमारा अदृष्ट के चलते भी वो क्षिति अंकुर सिद्ध हो जाएगा तो फिर ईश्वर सिद्ध नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं कि अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृति जन्यत्व अंकुर में रह जाएगा अंकुर अर्थात तो का जो अवयव है उसमें ईश्वर का कृति विशेषता संबंध न रहेगा जैसे कपाल में कुलाल का कृति विशेषता संबंध से रहता है इसी प्रकार की अंकुर कार्य होगा उसका जो अवयव होगा उसमें ईश्वरीय कृति विशेषता संबंध से रहेगा और अस्मदीय कृति अदृष्ट संबंध से रहेगा ये विशेषता संबंध से नहीं रहेगा इसको मूल में कहा तेना अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृति जन्य तो पक्ष पक्ष अर्थात अंकुर क्षिति इत्यादि में वो सब में रहने पर भी सिद्ध साधन नहीं हो जाएगा अगर अस्मदीय कृति से अंकुर क्षिति इत्यादि की उत्पत्ति हो जाएगी तो सिद्ध साधन हम जनक का सिद्धि करने के लिए अनुमान दे रहे हैं और जनक ईश्वर को हम लाने के लिए उद्यम कर रहे हैं किंतु अगर जीव ही जनक हो जाएगा तब आप जो जनक सिद्ध करने चले हैं वो तो सिद्ध हो गया जीव ही जनक तो सिद्ध हो जाएगा तो इसलिए कहने की कि हम लोगों का कृति तो अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृति जनक बनेगा और अदृष्ट के द्वारा अस्मदीय कृति जन्यत्व अंकुरों में आने पर भी सिद्ध साधन नहीं होगा क्योंकि हमारा जनकता संबंध क्या है कारणता संबंध तो विशेषता संबंध से ये कारण होना चाहिए अदृष्ट संबंध से नहीं इसको देखिए रामरुद्री में दिया है न सिद्ध साधनम तादृश जनकताया जनकताया अर्थात कारणताया स्वजन्य अदृष्ट अवच्छिन्नतया तादृश जनकताया अर्थात अस्मदादि कृतिजन्यत्व तादृश जन्य हम लोगों का कृतिजन्यत्व भी अंकुर में आ जाएगा किंतु ये जो अस्मदादि कृति जन्यत्व तो अथवा अस्मदादि कृति जो जनक हो गया अस्मदादि कृति में जनकता रहेगी ये अस्मदादि कृति में जो जनकता रहा ये जनकता का अवच्छेदक स्वजन्य अदृष्ट संबंध अवच्छिन्न स्वजन्य स्व अर्थात जीव अदृष्ट जीव अदृष्ट जन्य सुपद से जीव अदृष्ट नहीं होगा जीव कृति क्योंकि कृति को लेकर के रखना है अंकुरों का अवयव में तो सो पद से लेंगे जीवीय कृति जीवीय कृति अदृष्ट संबंध से जाकर के अंकुर अवयव में रह जाएगा स्वजन्य स्वपद से जीवीय कृति जीवीय कृति जन्य जीव प्रयत्न करेगा तभी उसका अदृष्ट बनेगा तो जीवीय कृति जन्य अदृष्ट संबंध से जाकर के जीवीय कृति अंकुर का अवयव में रह जाएगा विशेष्यता संबंध अनवच्छिन्न जीवी कृति विशेषता संबंध से अंकुर का अवयव में नहीं रहेगा और जीवीय कृति अंकुर का अवयव में रह जाएगा स्वजन्य अदृष्ट संबंध से हमको चाहिए किस संबंध से विशेष्यता संबंध से और जीवी आकृति किस संबंध से रहता है स्वजन्य अदृष्ट संबंध से तो चाहिए था विशेषता संबंध और रहा स्वजन्य अदृष्ट संबंध इसलिए जो संबंध को आश्रय करके हम ईश्वर का सिद्ध करना चाह रहे हैं तो उस संबंध से सिद्ध साधना नहीं हुआ जीवी आकृति तो रहा किंतु तो भिन्न संबंध से रहा अन्य संबंध से रहे हमको कोई इसमें हानि नहीं होगी दिनकरी में तेन अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृतिजन्य पक्षीय सत्व अदृष्ट के द्वारा अस्मदीय कृतिजन्य ये अंकुर में रह गया रहने पर भी न सिद्ध साधनम क्योंकि भिन्न संबंध में रहा इसलिए ये हमको अभिप्राय अभिप्रेत नहीं है अच्छा यदि च कार्य मात्रे कृतित्व अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ज्ञान इच्छा कृतित्व इव यदि कार्य मात्रे कृतित्व इव अन्य व्यतिरेकाभ्याम ज्ञान इच्छा च हेतुत्व स्वीक्रीय कृतित्व जैसे कार्य के साथ कार्य कारण भाव हुआ इसी प्रकार की अगर ज्ञान इच्छा भी अगर कार्य कारण भाव करेंगे स्वीकार करेंगे कार्य मात्रे कृतित्व अन्वय व्यतिरेक से कृति में हेतुत्व तो स्वीकार होता है अर्थात कृति सत्व कार्य सत्वम अभी कृति में हेतुत्व तो ये सिद्ध होता है अन्वय व्यतिरक से जैसे कार्य मात्र में कृतित्व अन्वय व्यतिरक से हेतुत्व तो सिद्ध हुआ कृतित्व इव तदवत अन्वय व्यतिरक के द्वारा ज्ञानत्व इच्छात्व च हेतुत्व स्वीक्रियते यदि जैसे कृतित्व हुआ ऐसे ज्ञानत्व इच्छात्व ये भी अगर हेतु मानेंगे तभी हमको कितना हेतु आ जाएंगे तीन हेतु आ जाएंगे आ जाएंगे तदा तादृश ज्ञान जन्यत्व कृति जन्यत्व व साध्यम अस्तु तादृश अर्थात अपरोक्ष ज्ञान और चिकित्सा और कृति ये तीनों ही आपका जनक बन जाए इसमें कोई विरोध नहीं है साध्यम अस्तु अर्थात अपरोक्ष अपरोक्ष उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान जन्यत्व इसी प्रकार के हो जाएगा अपर उपादान गोचर चिकित्सा जन्यत्व उपादान गोचर कृति जन्यत्व अपरोक्ष केवल ज्ञान के साथ जाएगा तो ये तीन आपका साध्य हो जाएंगे कहते ठीक है कृति जन्यत्व व साध्यम अस्तु ये रामरुद्री में देखिए कृति जन्यत्व व दिया प्रतीक उसके आगे विनिगमना भी रहा तो आप तीनों ही मान सकते हैं अन्यथा सिद्ध कहने का भी आवश्यक नहीं है तो ये सब भी संभव हो जाएगा चलिए ये हो गया अच्छा तो अभी आप तीन साध्य होने से भी ये चलेगा यह तो कर्तृजन्यत्व एवं साध्यमिति तन्न अभी हमारा मूल में मूल अनुमान क्या था क्षिति अंकुराधिकम कर्तृजन्यम तो साध्य क्या था कर्तृजन्यत्व तो अभी कर्तृजन्यत्व को आप संस्कार करके कर दिए अपरोक्ष ज्ञान उपादान गोचर उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान जन्यत्व इस प्रकार के लिए और उपादान गोचर कृति जन्यत्व ये भी कर दिए तो अंतिम में आप कर्तृजन्यत्व इसको रखे क्या आप उपादान गोचर कृति जन्यत्व कर दिए तो इसको सिद्धांत को कह रहा है कि कर्तृजन्यत्म एवं साध्यमिति तन्न कर्तृजन्यत्म ये नहीं होगा कृतिजन्यत्म ठीक है ये हो जाएगा तो इसमें अंतर क्या होगा कहते हैं कर्तृजन्यत्म और कृतिजन्यत्म ये जो कर्ता है वो कृति है क्या उसको क्या कहेंगे कृतिमान कहेंगे जो करता है वो कृतिमान है तो कृतिमान को मतलब अगर कृतिमान कहेंगे तो साध्य हो जाएगा कृतिमत्व आप कर्तृजन्य तुम कहेंगे तो कर्तृजन्य तुम का अर्थ हो गया कृतिमान जन्य तुम तो कृतिमान जन्यत्व में आपका विशेषण क्या आ गया कृतिमान जन्यत्म विशेषण हो जाएगा कृतिमान तो ये विशेषणता अवच्छेद का क्या आ जाएगा कृतिमत्वम तो ये कृतिमत्वम शब्द का क्या अर्थ है धूमवत्वम शब्द का क्या अर्थ है धूम अगर आपका ये अवच्छेद का कृति मत्व आ जाएगा इसका अर्थ हो गया कृति तो ये कृति प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग हो जाएंगे प्रत्येक कार्य के लिए कृति अलग अलग हो जाएगा अगर आपका अवच्छेद का ही कृति हो जाएगा अनंत कार्य के लिए अनंत कृति हो जाएगा किंतु अगर आप कहेंगे कि कृति जन्य तुम तुम नहीं कह करके कृति जन्य तो कहेंगे इसमें आपका विशेषण कौन हो जाएगा कृतिजन्यत्व विशेषण क्या हो जाएगा कृति अवच्छेद को कौन हो जाएगा कृतित्व तो कितना होगा एक होगा अगर आप कृति मत्वों को ले लेंगे अर्थात कर्तृजन्यत्वों को ले लेंगे तो आपका अवच्छेद को अनंत हो जाएंगे अगर आप कृतिजन्यत्व ले लेंगे आपका अवच्छेद को कृतित्व आएगा इसलिए लाघव से आप कर्तृजन्यत्व को साध्य नहीं लेकर के कृतिजन्यत्व को लीजिए ये यहाँ तात्पर्य है क्या चीज किंतु आपका अवच्छेद का क्या है कृतित्व ये सभी में रह जाएगा अनुगत हो जाएगा तो जब आप कृति मत्व कह करके लेंगे तो आपका अवच्छेद हो गया कृति कृति तो प्रत्येक कार्य के लिए अलग हो जाएगा तो अवच्छेद का अनुगत हो जाएगा वहां अवच्छेद का अनुगत नहीं होगा तो इसलिए वो गौरव दोष होगा इसको आगे पंक्ति दे रहे हैं यह तो कर्तृजन्य तो में वो साध्य नहीं थे न तो साध्य कर्तृजन्य ये मतलब कर्तृजन्य तुम नहीं होगा कार्य मात्र कर्तृत्व जनकत्व माना भाव कार्य के प्रति कर्तृत्व न कर्तृत्व न था कृतिमत्व न ये जनक होने में प्रमाण नहीं है और लाघवात कृतित्व नव तत्र हेतुत्वात लाघवात अर्थात अवच्छेद का लाघव अगर कृति अवच्छेद हो जाएगा तो अनंत कृति कृतित्व तो अवच्छेद हो जाएगा तो एक होगा इसलिए लाघवत अच्छा। हम्म। ठीक है लाघवत कृतित्व तत्र हेतुत्व आगे ननु ठीक है इसका खाली थोड़ा अवतरण का रख लेंगे तो अभी हमारा अनुमान हो गया कि क्षिति अंकुराधिकम कृतिजन्यम अभी हमारा ये आ गया कृतिजन्यम ये कार्यत्वात इस प्रकार के अनुमान हो गया तो, जो क्षिति अंकुरादि जितने हैं वो सब जन्य है क्योंकि जो हमारा पक्ष है वहां से हम ये नित्य इत्यादि को हटा दिए क्योंकि कार्य तो हेतु को रखना है तो हम कह देंगे कि जन्यम कृतिजन्यम कार्यत्वात इस प्रकार के हमारा अनुमान आ गया तो जहाँ कार्यत्व रहेगा तो वहाँ ये कृतिजन्यत्व हाँ, ठीक है जहाँ कार्य तो आपका हेतु रहेगा वहाँ आपका कृति साध्य को तो रहना पड़ेगा और आप जो कृति जन्यत्वम ये जो आपका साध्य इसका अर्थ आपने कर दिए इसका अर्थ नहीं कृति जन्यत्वम और वहाँ कार्य को ला करके रखे ठीक है जहाँ आप कृति को रखे वहाँ कार्य को रखें कृति को विशेषता संबंध से रखे और कार्य को समवाय संबंध से रख दिए ये संबंध से रखे इसलिए आप कहते विशेषता संबंध अवच्छिन्न कृतित्व अवच्छिन्न कारणता और समवाय संबंध अवच्छिन्न कार्यता इस प्रकार कह दिए ये ध्वंस एक कार्य है कार्य है आपका जो कार्यत्व वो उसमें भी रहेगा और आपका पक्ष अभी हो गया जितने सारे जन्य पदार्थ सब आपका पक्ष हो गया क्योंकि आप कह रहे हैं कि जन्यम कृतिजन्यम कार्यवाद इस प्रकार के कह रहे हैं तो जन्य तो आपका पक्षता अवच्छेद को होगा क्योंकि पक्ष जन्य ले लिया तो ध्वंस भी आपका पक्ष में आ जाएगा तो ध्वंस जब पक्ष में आ जाएगा तो उसको भी आपको भी रखना पड़ेगा समवाय संबंध से क्योंकि जो आपका जन्य हुआ वो आपका कार्य है और आप कह रहे हैं कि कार्य को समवाय संबंध से अपना अवयव में रखेंगे और वहां कृति को ला करके विशेषता संबंध से रखेंगे ठीक है तो आपका एक कार्य हो गया ध्वंस तो उसको भी समवाय संबंध से रखना पड़ेगा अगर नहीं रखेंगे तब ध्वंस एक कार्य नहीं हो पाएगा उसके प्रति कोई कृति विशेषता संबंध से आप रख नहीं पाएंगे तो आपका जो पक्ष है जन्य जितने होंगे सब पक्ष होंगे अभी पक्ष का एक देश है ध्वंस और उसमें आपका ये जो हेतु साध्य करके आप जो व्याप्ति दिखा रहे हैं ये संभव नहीं होगा क्यों वो कार्य आपका समवाय संबंध से नहीं रह रहा है आप जन्य को पक्ष बना रहे हैं ध्वंस भी जन्य है वो भी पक्ष है तो होने पर भी उसका आपका जो हेतु है कार्यत्व वो जो हेतु हो गया कार्यत्व वो कार्य को समवाय संबंध से रखना है वो नहीं रह पाएगा क्योंकि ध्वंस समवाय संबंध से नहीं रहेगा ये आगे दोष दिखाएंगे ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकराचार्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरात्मे मूर्तिभेद विभागिनी दक्षिणा दक्षिणामूर्तये Thank you.